आरती की जय श्री रघुबर जी की सतचित आनंद शिव सुंदर की आरती की जय श्री रघुबर जी की सतचित आनंद शिव सुंदर की आरती की जय श्री रघुवर जी की दशरथ तनय कौशल्यानंदन सुरमुनि रक्षक दैत्य निकंदन अनुगत भक्त भक्त उर चंदन मर्यादा पुरुषोत्तम वर की आरती की जय श्री रघुबर जी की सतचितयानंद शिव सुंदर की निर्गुण सगुण अनूपरूप निधि सकल लोक बंधित विभिन्न विधि हरण शोक भवदायक नवनिधि माया रहित दिव्य नरवर की आरती की जय श्री रघुवर जी की सतचित आनंद शिव सुंदर की जान के पति सूर्यधिपति जगपति अखिल लोक पायक त्रिलोक गति मित गति एकमात्र गति सचराचर की आरती की जय श्री रघुवर जी की सतचित आनंद शिव सुंदर की दशरथ तनय कौशल्यानंदन सुरमुनि रक्षत दैत्य निकंदन अनुगत भक्त भक्त भूर चंदन मर्यादा पुरुषोत्तम वर की आरती की जय श्री रघुवर जी की जान के पति सूर्यधिपति जगपति अखिल लोक पालक त्रिलोक गति विस्तवंद यमित गति एकमात्र गति चच सचराचर की आरती की जय श्री रघुबर जी की शरणागत वसल व्रत धारे भक्त कल्प तरुवर असुरारे नाम लेत जग कारी वानर सखा दीन दुख हर की आरती की जय श्री रघुवर जी की तत्चित आनंद शिव सुंदर की आरती की जय श्री रघुवर जी की आरती की जय श्री रघुबर जी की नाथ अब तो निभाए बनेगी बिगड़ी मेरी बनाए बनेगी नाथ अब तो निभाए बनेगी चिंता से सभी अंग है मुरझाए कमल से वह शोक ने घेरा है कि कल है नहीं कल से यह आ गए है ग्रह दशा किस कर्म के फल से गुरुदेव उबारो मुझे निज पुण्य के बल से दुख मेरा मिटाए बनेगे बिगड़ी मेरी बनाए बनेगी नाथ अब तो निभाए बनेगी धनवंतरे बन चूर्ण को ये शीघ्र खिलाओ अथवा सुसेन हो के संजीवनी पिलाओ या जो उचित प्रयत्न हो न काम में लाओ गुण गायगा कृपाल के मरते को जिलाओ अब न क्षण भर रुलाए बनेगी नाथ अब तो निभाए बनेगी बिगड़ी मेरी बनाए बनेगी दासों को बड़ा कष्ट है यह अंधेर नहीं है या आप तलक पहुँचती यह टेर नहीं है गिरता है वज्र भाग्य का कुछ फेर नहीं है पृथ्वी पे पे प्रलय हो रही है देर नहीं है अब तुम्हें को सुनाए बनेगी नाथ अब तो निभाए बनेगी बिगड़ी मेरी बनाए बनेगी संकट उसे पे आए जिसका शुद्ध हृदय हो न्याय से करो न्याय तो अन्याय का क्षय हो जो लेके चुका चरण की शरण क्यों उसे भय हो स्वीकार राधे चाम की यह आय विनय हो नाथ अब तो निभाए बनेगी बिगड़ी मेरी बनाए बनेगी नाथ अब तो निभाए बनेगी नाथ अब तो निभाए बनेगी सीता जी से जब मिला हार्दिक आशीर्वाद हनुमत ने समझा उसे जीवन लाभ प्रसाद से सीता जी के वाक्यों नहीं वाक्य नहीं थे वे अनमोल रत्न थे चुने हुए मन मानस मेले कपि उनको साहस धन से सौ गुने हुए फिर ऐसे भाव निमग्न हुए अपना अस्तित्व भुला उठे पा प्रबल शक्ति झुमने लगे वा विमल भक्ति पुलका उठे कितने ही क्षण मौन रह फिर बोले साहद जन्म सफल मेरा हुआ पाकर आशीर्वाद ते माता अब है विनय एक यद्यपि कुछ हृदय हिचकता है फिर भी मुख खोल कहे माँ से बालक का चित्त मचलता है आया हूँ सिंधु लांग कर मैं इस कारण भूख सताती है यह पेड़ फलों से लदे देख इच्छा भी बढ़ती जाती है रखवाली पर जो माली है उनका किंचित भय नहीं मुझे जब कृपा दृष्टि माँ की है तो सकुचाहट संशय नहीं मुझे देख बुद्धि बल धाम सुत बोली माँ तत्काल रघुराये को हृदय धर जाओ मेरे लाल कपे जाओ फल खाओ निर्भय हो लौट यही आओ कप जाओ फल खाओ निर्भय हो लौट यही आओ तेरी सब भाति कुशल हो मेरा वरदान अटल हो कप जाओ फल खाओ निर्भय हो लौट यहीं आओ तेरी सब नाति कुशल हो मेरी वर दान अटल हो कप जाओ फल खाओ निर्भय हो लौट यहाँ आओ मिले जो फल वह सुफल हो हाँ मन में हर्ष लाओ कप जाओ फल खाओ निर्भय हो लौट यहीं आओ मेरा आशीष है तेरा बाल बिना हो बाका मेरा आशीष है तेरा बाल बिना बाका हो यह भी अभिलाषा है आतिथ्य तेरे मन का हो जाओ फल खाओ विफल विघ्न सफल इच्छा हो सूल हो फूल तुझे शैल तुझे तिनका हो आग पानी हो तुझे काल तेरा कौर हो कपि जाओ पल खाओ निर्भय हो लौट यहीं आओ कपि जाओ फल खाओ निर्भय हो लौट यहीं आओ शीश नवा करमात के पदरज ले करमाथ अवधनाथ का ध्यान धर चले मुदित कपिनाथ